बस तू इन्हें झगड़ता खेलता छोड़ दे यहां तक कि ये अपने उस दिन से जा मिलें जिसका इनसे वादा किया जाता है